सबसे छोटी शहजादी और सबसे छोटा शहजादा एक वक्त का किस्सा है एक बादशाह अपने आठ बच्चों के साथ रहता था चार खूबसूरत शहजादे और चार हसीन शहजादियां बादशाह को उन पर नाज था पर वो उनका निकाह करना चाहता था हम्म, मैं अपनी औलाद का निकाह कैसे करूं उसने कुछ पल सोचा और फिर अपने हाथ की जानिब देखा ओह ओ, ये क्या है नहीं अब्बा जान क्या हुआ ओ मेरी प्यारी मेरी प्यारी बच्ची मैं क्या करूं? शहजादी सख्ते में आ गई ओह आओ चलो चले मुझे तुम सबको कुछ बताना है मेरे अजीजों ऐसा लगता है मुझे कोई खतरनाक बीमारी हो गई है क्या कहा ओ नहीं क्या हकीम ने इसलिए मैंने तुम सबका निकाह करने का फैसला किया है क्योंकि मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र है मैं नहीं चाहता कि तुम सब लोग तनहा रहो इसलिए मेरी बात मान लो सभी शहजादे और शहजादियों ने एक दूसरे की तरफ खौफजदा होकर देखा उनकी निकाह करने की बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं थी और इस खबर से छोटी बहन और छोटा भाई जूलिया और रॉबर्ट सबसे ज्यादा नाखुश थे आ, ये फिर से दिखावा करने लगे हाँ, हाँ अब हम क्या करें अगले ही दिन बादशाह ने पूरी सल्तनत से अपने बच्चों के लिए शरी के हयातों का इंतजाम किया अब्बा जान मैं सच में निकाह नहीं करना चाहती ओ मेरी बच्ची मैं शायद ज्यादा दिन तक जिंदा ना रहूं, इसलिए तुम्हें मेरे हुक्म की तामील करनी चाहिए इस तरह तमाम शहजादे और शहजादियों ने अपनी किस्मत के सामने घुटने टेक दिए आखिर में बादशाह जूलिया और रॉबर्ट के पास आया इससे पहले कि बादशाह कुछ कहे जूलिया ने बोलना शुरू कर दिया अब्बाजान रॉबर्ट और मैं किसी से निकाह नहीं करना चाहते हम अपनी शरीक हयात खुद चुनना चाहते हैं पर मेरे अजीजों आप दोनों बहुत छोटे हो फिक्र मत करो एक बाप बेहतर जानता है हाँ पर फिर भी हम बाहर जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हम अपने बलबूते क्या कर सकते हैं मेरा मतलब ये हमारी जिंदगी है हाँ और हमें इल्म होना चाहिए कि हम किसके साथ अपनी जिंदगी बसर करना चाहते हैं है ना अब्बा जान लेकिन हम जाएंगे और अपने लिए खुद का शरीक हयात ढूंढेंगे तुम मेरी परवाह नहीं करते क्या ऐसा है ओहो मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी बीमारी बदतर होती जा रही है आ, इसका इस पर कोई असर नहीं होता ओ अब्बा नहीं ठीक है जो तुम्हारी मर्जी हो वही करो पर पर मेरे पास बाद में रोते हुए मत आना जब जब जिंदगी तुम्हारे लिए दुश्वार हो जाएगी आप ही रो रहे हैं पर तो वो दोनों महल से रुखसत हो गए बादशाह को थोड़ा परेशानी में डालकर ओ मेरे बेचारे बच्चे वो क्या करेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके आने तक मैं जिंदा रहूंगा जल्दी ही वो दोनों एक सल्तनत में पहुंच गए और आसपास नौकरी के लिए तहकीकात करने लगे पर वो नाकामयाब रहे इधर उधर भटकने और लंबे अरसे तक कोशिश करने के बाद आखिर में वो एक सराय में दाखिल हुए माफ करना मैं सफरी हकीम हूँ क्या आपके पास हमारे लिए कोई काम होगा मुझे एक हकीम की जरूरत क्यों होगी तशरीफ ले जाओ मुझे कोई जरूरत नहीं मेहरबानी कीजिए मैं बस एक हकीम ही नहीं मैं दूसरे काम भी कर सकती हूँ जैसे आ... हम्म, बावर्ची चाहिए मुझे क्या तुम बावर्ची का काम करोगी खाना बनाना हाँ मैं खाना बना सकती हूँ मैं खाना बना सकती हूँ तो ठीक है तुम माकूल रहोगी और मेरा भाई अगर वो यहाँ काम नहीं करता तो मैं भी नहीं करूँगी ठीक है उसके लिए भी कोई जगह ढूंढ लेंगे जूलिया ने बहुत दिल लगाकर काम किया सराय के मालिक ने गौर किया कि रॉबर्ट कितना अच्छा है और उसने उसे मैनेजर का काम दे दिया एक दिन एक बात उनके कानों में पड़ी शहजादे एंड्रू के मुतालिक जो काफी अरसे से बीमार था लगता है उसके शरीर पर बहुत अजीब से फोड़े हैं कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया है जूलिया ने यह सुना और रॉबर्ट की तरफ मुड़ी रॉबर्ट सुनो मैंने नीम के पत्तों के मुतालिक सुना है जो उस शहजादे को उस बीमारी से शिफा दे सकेंगे ये तो बहुत उम्दा है चलो आज ही चलकर वो पत्ते ले आए मुझे इल्म है वो कहाँ उगते हैं वो उस दरख्त के पास गए और उसके कुछ पत्ते तोड़े वो उन्हें घर ले गए और जूलिया ने उन्हें मसल कर कुछ पत्तों को पानी में उबाला हमें इसे शहजादे के पास ले जाना चाहिए पर कैसे मैं एक पैगाम रसा के भेस में उसके पास जाऊंगी ताकि वो मुझे पहचान न सके तो अगले दिन जूलिया शहजादे के महल में गई नीम का पानी लेकर उसने एंड्रू को पानी के बारे में सब मालूम मुहैया कराई और ये कि पानी कैसे उसे शिफा देगा और तुम किस बिना पर यह सोचते हो कि ये कारगर होगा बहुत से आए और इससे पहले भी उन्होंने कोशिश की और वो नाकामयाब रहे यकीनन मैं नाकामयाब नहीं होऊंगा उसमें एक पत्ता है जिसके मुतालिक मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो खास है <laughs> बहुत खूब लेकिन अगर ये कारगर न हुआ तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी थोड़ी देर बाद एंड्रू ने थोड़ा पानी अपनी बाहों पर मला और जैसे कि दिन बीतते गए उसने गौर किया कि फोड़े कम हो गए हैं कुछ तो गायब भी हो गए थे वाह ये यकीनन कारगर है बेहतर होगा कि मैं और मंगवाऊं तो कुछ दिनों तक जूलिया शहजादे के पास जाने लगी उसके लिए पानी लेकर और आखिरकार एंड्रू सेहतयाब हो गया तुमने ये कर दिखाया तुम्हारी दवा कमाल की थी बहुत कमाल की बात है हुजूर मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ एंड्रू सख्ते में आ गया तुम तुम्हारी आवाज लड़की की तरह है तुम कौन हो जूलिया पकड़ी गई और उसे ये इल्म था उसने अपना भेष उतारा और शहजादा ये देख कर हैरत जदा हो गया की उसकी हकीम एक खातून है जूलिया ने उसे अपने और रोबर्ट के बारे में सब कुछ बता दिया मैं यहाँ आई हूँ एक ऐसे इंसान की तलाश में जिससे मैं मोहब्बत कर सकूँ खैर क्या कोई तरीका है जिससे तुम मुझसे मोहब्बत कर सको क्योंकि तुम यकीनन बहुत दानिशमंद और रहमदिल भी हो और हकीकत तो ये थी कि गुजिश्ता दिनों में जूलिया को भी एंड्रू से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी उसने उसकी पेशकश कबूल कर ली और जल्द ही उनका निकाह हो गया रॉबर्ट मैं बहुत खुश हूँ मैं तुम्हारी खातिर बहुत खुश हूँ जूलिया उम्मीद है तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी यकीनन खुशहाल होगी अगले दिन रॉबर्ट ने अपनी बहन से विदा ली और निकल पड़ा खुद के लिए शहजादी की तलाश में वो दूर दूर तक सफर करता रहा और जल्द ही एक सल्तनत में पहुंचा और इस दौरान जब वो सोच रहा था कि वो क्या करे उसने एक शख्स को अपने दोस्त से गुफ्तगू करते हुए सुना मैं अपने जवाबों के प्रति इतना आश्वस्त था राजकुमारी के तीन शौक बूझने इतना बड़ा मुश्किल काम है मैंने उससे विवाह करने का अवसर खो दिया है ओह ये दिलचस्प लगता है चलो मैं अपनी किस्मत आजमाता हूँ तो रॉबर्ट एक खादिम का भेस बदलकर महल में छुपकर दाखिल हो गया वहां उसने शहजादी मिशेल को गौर से देखा जब अपने कामकाज में मशगूल थी शहजादी यकीनन बहुत खूबसूरत है हम्म तो वो मुसवरी पसंद करती है पर जल्द ही शहजादी को एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है हम्म वो वो कहाँ चली गई हाँ? ओह आदाब तुम मेरे आगे पीछे क्यों घूम रहे हो ओ वो इसलिए कि यकीनन जो तस्वीर तुम बनाती हो मैं उसका परस्तार हूँ इसने मिशेल को यकीनन बहुत खुश कर दिया वो उससे गुफ्तगू करने लगी और उसने वो सब तस्वीरें दिखाई जो उसने बनाई थी हम्म, एक का इल्म हो गया है दो बाकी है रॉबर्ट ने करीब से मिशेल का पीछा किया एक दिन जब बावर्ची खाना खाली था उसने देखा कि वो कर एक केक बेक कर रही है आदाब एक शहजादी यहाँ क्या कर रही है ओह तुम यहाँ क्यों आए हो खैर मैं यहाँ एक खादिम हूँ क्या आपको केक बेक करना पसंद है बताएंगी हाँ हाँ मुझे केक बेक करने बहुत पसंद है हाँ ये देखना बहुत अजीब लगता है ये उसके बाद कहना जब तुम इस फ्रूट केक का एक टुकड़ा खा लो रॉबर्ट ने एक टुकड़ा खाया और उसे ये बहुत लजीज लगा अब ये बात अजीब नहीं लग रही है ना? नहीं बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रही है सच में ये सुनकर मिशेल मुस्कुराने लगी और रॉबर्ट बहुत ज्यादा खुश हो गया क्योंकि उसने उसका दूसरा शौक ढूंढ लिया था कुछ दिनों बाद रॉबर्ट बाहर बाग में बैठा था शहजादी मिशेल यकीनन एक बहुत ही दिलचस्प खातून है मैं सोच रहा हूँ कि आखिरी शौक क्या हो सकता है तभी उसने एक शोर सुना और देखा एक नकाब पोश साया वहां से छुपकर निकला जब उसने गौर से देखा तो उसने देखा कि वो शहजादी मिशेल थी वो शहजादी है वो कहाँ जा रही हैं? वो उसके पीछे पीछे गया जब वो कर गांव में घुसी और भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर गई ओह आ, आ, वो कहाँ जा रही हैं? वो जल्दी ही एक अंधेरी गली में घुसे और शहजादा ने खुद को छिपा लिया ये लीजिए मोहतरमा शोरबे का ये प्याला आपके लिए फायदेमंद होगा ओ, बहुत बहुत शुक्रिया तुमने मेरे लिए क्या लाया है तुम्हारे लिए लाई हूँ ये कमाल का गर्म कोट रॉबर्ट ये सब देखकर उसका कायल हो गया शहजादी घूमती रही बहुत से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हुए शहजादी के तीन शौकों का पता लगा लेने के बाद वो जल्दी एंड्रू की सल्तनत में तशरीफ लाया उसने एंड्रू से मांगी एक शाही पोशाक और कुछ तोहफे शहजादी का हाथ निकाह में मांगने के लिए ठीक है जो कुछ भी तुम्हें चाहिए ले लो जल्दी ही शहजादा रॉबर्ट शहजादी मिशेल की सल्तनत में शान शौकत से गया जब वो उससे मिला तो वो उसे बिल्कुल भी पहचान न सकी मैं उन शर्तों के लिए अपनी किस्मत आजमाने आया हूँ जो तुमने तय की है हाँ, मुबारक हो शहजादा रॉबर्ट बस मुस्कुराया और अपने जवाब देने के लिए बस आगे बढ़ा आपका सबसे पसंदीदा शौक है मुसवरी हम्म सही है पर वो तो मामूली शौक है दूसरे के लिए कोशिश करो आ, क्या ये बेकिंग है तब जब बावर्ची खाने में कोई ना हो ओ, हाँ मतलब आ, आ, मैं हाँ, हाँ पर तुम्हें आखिरी शौक नहीं मिलने वाला हाँ दरअसल ये क्या हो सकता है क्या ये हो सकता है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता छुपकर सड़कों पर निकल जाती हो और सल्तनत के तमाम लोगों की मदद करती हो शहजादी सख्त में आ गई क्योंकि सभी तीनों जवाब सही थे खैर क्या मैं निकाह में आपके हाथ की गुजारिश कर सकता हूँ मुझे खुशी होगी आपसे निकाह करके जिसके दिल में इतनी मिठास और नरमाई हो बिल्कुल अपने बनाए केक की तरह अचानक उसे इल्म हो गया कि रॉबर्ट कौन था वो काफी हैरान हुई उसे इस तरह पेश आते देखकर और साथ ही वो ज्यादा खुश हुई क्योंकि वो उसे जानती थी कि वो एक दानिशमंद खुश मिजाज और बापरवाह इंसान था अगले दिन उसका निकाह मिशेल से हो गया और निकाह के फौरन बाद दोनों जूलिया और रॉबर्ट बादशाह से मिलने गए अपने अपने शरीक हयात के साथ बादशाह बहुत हैरत ज़दा और खुश हुआ ये देख कर कि उसके बच्चों ने इतने अच्छे लोगों से निकाह किया है अब्बा जान आप कितने तंदुरुस्त लग रहे हैं बादशाह ने बताया कि उसकी बीमारी इतनी लाइलाज नहीं थी और हकीमों ने उसे पूरी तरह शिफायाब कर दिया था मैं थोड़ा ज्यादा ही जज्बाती हो गया था पर मैं इतना खुश हूँ कि तुम वापस घर आए हो और खुश हो मेरे सबसे छोटे बच्चे मुझे तुम पर बहुत नाज है कि तुम्हें अपनी मोहब्बत मिल गई और इससे ज्यादा मुझे क्या खुशी चाहिए बताओ ड्रामा क्वीन तुम्हारा मतलब है किंग इसलिए बादशाह ओटो समझ गया कि अपनी राय अपने बच्चों पर लाद देना एक बहुत गलत बात थी इंसान को हमेशा अपने बच्चों को अपने खुद की किस्मत चुनने की आजादी देनी चाहिए और जबरदस्ती कुछ थोपना नहीं चाहिए